गाड़ी में बैठे हुए ऑफिसर अजय ने थोड़ा पैनिक होते हुए कहा हेलो सर आप श्योर हैं कि मुझे यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है मैं घटना स्थल के बिल्कुल पास में ही हूँ इस टाइम सिक्का हाईवे पर ही चल रहा हूँ उधर फोन की दूसरी तरफ से ऑफिसर अजय के कमांडिंग ऑफिसर लगभग चिल्लाते हुए कहा तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हें पता नहीं क्या कि कौन तुम्हारे साथ बैठा हुआ है तुम स्पेशल टीम को लेकर लूटपाट का केस देखने जाओगे ऑफिसर अजय को तुरंत एहसास हुआ कि उसके कमांडिंग ऑफिसर ठीक कह रहे हैं ऐसे में उसने अपनी गलती मानते हुए उनसे सवाल किया तो सर अभी वहां की सिचुएशन क्या है इस पर कमांडिंग ऑफिसर ने थोड़ा शांत होते हुए कहा लुटेरे तो भाग गए तो अगर तुम अभी यहाँ भी आ जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा और ये साले सब एक्सपीरियंस लुटेरे हैं मुझे इनके बारे में अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली है इन लोगों ने ट्रक लूटा है सिगरेट से भरी हुई ट्रक थी और कंपनी से निकलकर मार्केट में जा रही थी वैसे किसी के मारे जाने या अटैक होने की खबर यहाँ नहीं है लेकिन ट्रक का कुछ अता पता नहीं है उन्होंने कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर से बोलना शुरू किया और ट्रक के साथ साथ ड्राइवर भी गायब है उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या ये तो बहुत अजीब है ऑफिसर अजय ने भी हैरत जताते हुए कहा सर मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ एक ही आदमी है जो ये कर सकता है है ना हाँ ठीक है लेकिन अभी इसके बारे में बात मत करो कमांडिंग ऑफिसर ने फोन पर जवाब दिया तुम बस स्पेशल टीम का ध्यान रखो उनको अपने साथ ले जा रहे हो तो उनका अच्छे से ख्याल रखना कोई गलती मत करना विक्रांत साहब बहुत बड़े डिटेक्टिव हैं इंडिया लेवल के टॉप डिटेक्टिव हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं अगर उनके साथ कुछ ही हो जाता है तो फिर हम लोग कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे किसी भी हालत में हमें उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा हम्म, मैं जानता हूँ ऑफिसर अजय ने भी कमांडिंग ऑफिसर की बातों से सहमति जताते हुए कहा वाओ ये सुनने के बाद विक्रांत ने बड़े गर्व से राहत की सांस ली उसे अपनी तारीफ सुनकर काफी अच्छा लग रहा था फोन रखने के बाद ऑफिसर अजय ने अपने माथे पर आ रहे पसीने को साफ करते हुए कहा विक्रांत सर ये सब छोड़िए हमें इससे मतलब नहीं है हमको अपने केस पर काम करना है देखिए अभी थोड़ी देर में हम लोग सिक्का पहुंचने वाले हैं फिर विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ओके ठीक है लेकिन मुझे तो ये सोच के अजीब लग रहा है कि ये साले सिगरेट चुरा कर क्यों ले जा रहे हैं सिगरेट से उन्हें कितना पैसा मिल जाएगा और साला सिगरेट लूटने के लिए ये लोग हथियार लेकर क्यों आए और अगर इन लोगों के पास इतनी हिम्मत थी कि ये हथियार चला सकें तो फिर उन्होंने कोई बैंक क्यों नहीं लूटा बैंक भी तो लूट सकते थे ये लोग ठीक उसी समय ऑफिसर अजय ने नोटिस किया कि उसके फोन का वॉल्यूम फुल था और ऐसे में शायद विक्रांत के फोन के दूसरी तरफ से बोल रहे कमांडिंग ऑफिसर को भी पूरी बात भी उन्होंने सुन ली थी उसने विक्रांत की तरफ नर्वस होकर देखते हुए कहा विक्रांत सर आपने सब कुछ सुन लिया क्या तभी रूही ने बीच में ही बोलते हुए कहा अरे सर अभी लग रहा है आपको मॉडर्न चोरी का ट्रेंड पता नहीं है बैंक लूटने से ज्यादा कमाई ट्रक लूटने में है फायदा ही फायदा इसमें अच्छा कैसे विक्रांत ने चौंकते हुए सवाल किया मैं बताती हूँ आपको रूही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा आपको पता है ट्रक में कौन सी सिगरेट थी चलो मान लेते हैं कि ट्रक में कोई सस्ती सिगरेट लूट थी जिसकी मार्केट में कीमत मात्र बीस रूपए पर सिगरेट है यानी कि अगर दस रूपए सिगरेट की एक डिब्बी थी तो एक डिब्बे की कीमत होगी दो सौ रूपये अब ये जो ट्रक था इस पर कम से कम दस टन का लोड रहा होगा अब सोचिए जरा दस टन वाले ट्रक पर कितना डिब्बा सिगरेट लदा होगा कम से कम एक लाख डिब्बा मान के चलते हैं अब इसको मल्टीप्लाई करिए 200 से जोड़िए कितने रुपए हो गए मैं बता रही हूँ ना आपको करोड़ों का माल लेकर गया है वो और किसी भी बैंक को लूटने से ज्यादा सेफ गेम है रू ने फिर सांस लेते हुए कहा सिगरेट को तो ट्रैक किया नहीं जा सकता और ना ही ऐसा होगा कि मार्केट में सिगरेट का दाम गिरने वाला है और ये कोई जल्दी खराब होने वाली चीज भी नहीं है वो जब चाहें जहां चाहें वहां के मार्केट में जाकर इसे बेच सकता है करोड़ों का फायदा होगा उसे और पकड़े जाने का रिस्क भी ना के मात्र है हम्म यार सच में मैंने तो इतना सोचा ही नहीं था बैंक लूटने से ज्यादा फायदा तो ट्रक लूटने में विक्रांत ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा फिर विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा सच में यार ये तो बहुत बड़ा गेम है कंपनी को अपने ट्रक के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए और वो जिस आदमी की बात आप लोग कर रहे थे उसका नाम नंदू है क्या वही नंदू जिसका नाम इस टाइम लगभग बड़ी चोरी या लूटपाट की घटना में रहता है रूही ने ऑफिसर अजय की तरफ ध्यान से देखते हुए सवाल किया हाँ वही है उसी की बात कर रहे थे लेकिन आपको कैसे पता अजय ने रूही की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा रूह ने कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि वो अचानक से हंसने लगी तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं सही हूँ मैंने बस ऐसे गैस किया था इंडिया में उस जगह की लूटपाट के अंजाम देने वाला वही है वो भी दिन दहाड़े ट्रक लूटना और किसी के बस की बात नहीं है अच्छा रूही विक्रांत ने कभी भी इस चोर के बारे में नहीं सुना था ऐसे में उसने तुरंत ही रूही से सवाल किया नंदू नंदू चोर ये कौन है बावरिया गैंग का है क्या लेकिन नहीं और तुम्हारे बाप का नाम तो जोधन था ना तो ये क्या उनका कोई दोस्त है जोधन सिंह का नाम सुनते ऑफिसर अजय के होश उड़ गए उन्होंने शॉक्ड होकर गाड़ी को रोड के किनारे लगा दिया ऐसा लग रहा था जैसे अजय को अपने कानों की ओर यकीन ही नहीं हो रहा था उसने अचंभित होते हुए रूही की तरफ देखा और फिर उससे घबराते हुए पूछ बैठा आपका मतलब जो जोधन सिंह रूही मैडम के अरे इतना परेशान मत हो ये जोधन सिंह की ही बेटी है लेकिन अब ये वो काम नहीं करती अब ये मेरी टीम के साथ केस सॉल्व करने में मेरी मदद करती है विक्रांत ने फिर अपना हाथ हिलाते हुए कहा उस ऑफिसर अजय का घबराया हुआ चेहरा देखकर थोड़ी हंसी भी आ रही थी रूही ने फिर विक्रांत की बात को बीच में काटते हुए कहा मैंने इन लोगों को ज्वाइन नहीं किया था बल्कि इन लोगों ने खुद ही मुझसे रिक्वेस्ट करके अपने साथ काम करने के लिए कहा था अभी भी ऑफिसर अजय के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था उन्हें मानो को समझ में नहीं आ रहा था फिर विक्रांत ने खांसते हुए रूही से पूछा रूही तुम तो पहले भी इस फील्ड में काम कर चुकी हो तुम क्यों नहीं इन लोगों की मदद करती हो यार ये लोग हमारा इतना ध्यान रखते हैं फ्री में खाना खिला रहे हैं कम से कम तुम इनकी इतनी मदद तो कर ही सकती हो ना इस पर रूही ने अपना हाथ हिलाते हुए जवाब दिया अरे सर क्या बातें कर रहे हैं आप मैं भला कैसे कर सकती हूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इसका मेरे पापा आज से पंद्रह बीस साल पहले चोरियां करते थे और वो नेशनल लेवल की चोरी करते थे खास ट्रिक से और ये नंदू चोर थोड़ी ना है ये तो लुटेरा टाइप का है अपने साथ हथियार लेकर चलता है अगर कोई इसके रास्ते में आता है तो फिर उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं रहता है बहुत खतरनाक आदमी है सर तुमसे ज्यादा खतरनाक है क्या विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे बोल पड़ा देखो रोहित तुम मेरी बात सुनो तुम्हारे पापा के पास जो ट्रिक है और जो दिमाग है वो शायद ही किसी और चोर के पास होगा मेरा मतलब किसी भी और इंसान के पास होगा तभी तो मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया है वरना क्यों लेता देखो द्रोही अगर तुम इस केस को सॉल्व कर देती हो तो फिर मैं तुम्हें अपनी टीम में परमानेंट रख लूंगा और तुम्हें बाकायदा सैलरी भी मिलेगी